उनका रब उन्हें अपनी जानब से रहमत और रसामंदी और जन्नतों की खुशखबरी देता है जिनमें उनके लिए हमेशा रहने वाली नेमतें हैं